मेरा अम्बालाल अम्बालाल जी और गाँव बेदला बेदला आप भी कुमारी हैं मैं कुमार अच्छा आ, आप गुरु जी का नाम भी बताया मेरा गुरु जी बोबा जी हाँ हम्म। अमराज बोबा अमराज बोबा ये भी कुमार है ये कुमार और ये पहला आपका ही नाम बताया मोती बोबो मोती ये भी कुमार है भी कुमार अच्छा यार मैं मतलब आपस में रिश्तों कहीं हैं जाति भाई बस अच्छा तो ई देवरार माथे मतलब बापू ऐं बेटा रहनि असांजो चाले पप्पा वो नहीं है वो ठीक नहीं पर्सन नहीं पर जीरो तो परसेंट है और मु मर जाऊं मारे लड़को और नहीं पर नहीं हम्म। देवता पर्सन नहीं पर जिन्हें भाव आ जाए वो तो। मर गयो 3 साल भाव नहीं गयो हम्म। गांव वाला मने एक टू गयो हम्म। कि वो वो वो नहीं है पाती छोड़ो पाती वहाँ नोदन होती अन्नी खाते जवार वावे धान रहा नोदन होती भइगयो नि तिन साल भयो हम्म। पाँच हजार एकदम हम्म। यो झाकन दिदु हम्म। यो मलाई आत्मा जति भिन्टी पनि भयो यो ग्रुप फ्याँक्यो यो भयो यो दुसरा भगवान् के हो तो बोपो यो बाह्र महिना त मुनि के हो दादीहरू जबी बोपो नि त्यो भिन्टी फेरै भो पुग्री दो साल मुनि के हो यो ढेउरो यहाँबाट त बिराम्रो यो यो अटो पार्टी ಪ್ರಜಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಪನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಪ अनि देउरा कारबार सलाह वाला सब मलाई फिर पार्टी को हो हम्म। एक होने रे एक ही सितारों माल कमाई कमाइयो लुगाए रोती सी गई हम्म। बाद बहादुर भाव उनके हाथ हुई होना आई जो हम्म। हाथ हाथ जा देवराम लेना है दो सौ रुपये बाटा देवराम प्रिया ये उसको चमत्कार देवता है वट मुहूर्त कीरी कीरी आप बताइए एक तो है ताका जी ताका जी हम्म। एक हाकल दे दी हम्म। एक धर्मराज जी धर्मराज ने एक भेरू जी एक जी ने एक वो राटाण माता डेलवाड़ा माता मुंगरा बेटी है वो बारह महीना में भाव है मनीष नौ तारीख आठ मारे जनन भाव है ना वादी केंकड़ा मिले वो पर हाथ पर वादी नहीं वे जनन वो पर वादी ने पटकी था वो तीन घंटा तो मन पकड़ी रखी वादी मिला मेहंदी उगड़ी था माता जी रो भाव है सीता माता जी रो नहीं ये अपने राठाणी माता राठाणी माता दरबार दिलवाड़ा वाला हाथी चढ़ाया होटे बार वो कुलदेवी बार राठाणी कुलदेवी है बेदला वाला रहे मन यहाँ नहीं मन देवरा में है हम्म। ये मनोहर सिंह जी भी आया हम्म। बारो दरबार है सेक्रेटरी ये सुमू सिंह जी हम्म। और ये हीरालाल शहर में कटारे खड़ा गया ये रोंगड़ो वाइन किया देवरा समझ गया देवता है बढ़िया अच्छा नीमड़ा पेड़ है लिमड़ो दागी लिमड़ो देता अच्छा और आप एक बात ये बताइए कि चढ़ा हुआ कहीं कहीं है जी रे कहीं चढ़ा हुआ है भैरू जी रे बकरो चढ़ा मानवटे नहीं चढ़ा है धर्मराज देव आई क्यों हम्म। निवाज धर्मराज ना क्यों बकरो नहीं चढ़ा बकरो तो मीठा दिए है प्रसाद और ताखा जी पे कहीं चढ़े चंदन योग में ताखा जी रे हम्म। लिमड़ा ये तो नौ बजे पाती चढ़ जा ये सुबह नौ बजे दितवार दितवार हाँ बड़ो લીમડો ની પાતી ઉતારે પાતી છોડો વાળો દૂસરો પાતી ને બધી મોળીને ચડાવે हम्म, પછી ઉપર પૂછક ચડે હમ. પછી માળા हम्म, આપણે की पाती मांगनी હોય तो जालन भी जालन मेलिन पाती मांगू दी दे पड़ देता है कि हमारो काम अनुसार जो कैतरान में प्रूव है हम्म, और ताका धीरे तो लि- यो લીમડો ભાવે ના લીમડો પીએ ભૂકો हम्म। જમરાદરો ભાવે ના अ, निमड़ो वहाँ नौ नौरता में भी है कि और भी कभी भी है इबारो कोई नौरता में अब नौरता में नौदन पिए हम्म, बरू piye hmm dan har di twar ke mina और धर्मराज ना दूध हम्म। ने कोई प्रसादी करा तो सूर मारी हम्म। सूर में सड़ा है हम्म। और धर्मराज ने माली पना बिरू जी माली पना सड़े धर्मराज ने गिरी आंगी है और कैसे सड़े और नहीं हो धर्मराज बाल ना हाकड़ हाथ में नहीं लगा अच्छा हाँ कलर का धात लगा है बेरोजर भाव बेरोजर भाव ना चटियांग उठा है बेरोजर भाव भी अर्थ हम्म। हम्म। गमसा हम्म। वो भी दो भूप पार्टी बोन एक दूसरो ये दे रहा अच्छा तो आप तो धर्मराज रह सकते हो और पार्टी बाबू बेरोजर दूसरे हैं बेरोजर पार्टी बाबू नहीं होंगे नीचे मो अच्छा काम तो पर नहीं करे हाँ। तो बेरो सा है यानी गोबावरी हरण साधना जात्री अर्थ है पास साधना वीरा जो हम्म। कुर्तो वगैरह सब खोल खुले हम्म। तो नाम भाव है बेरोजरो हाकल उठे हम्म। यानी गोबर हाकल वहीं मावे जात्री ने आकर हंदूर पेलो ले हंदूर वे ने तेल तेल तेल में गोली हंदूर हाँ। अतरो पेलो पर नाम भाव है ना ले ले पेलो जो तो आप रे डील में बेरुजी भी आवे धर्मराज भी आवे ताखा जी ताखा जी भी आवे और खागल बाबू जी दादा भाव दीदवान धर्मराज दादा वे दादा धर्मराज हम्म। काम वे तो पूछे काम जागण वे नौरधाम जागण वे हम्म। माई सेट पे जागण वे और तो सब देवता उतरे हैं रात में हम्म। तो खास कारोबार सलाह वाले धर्मराज इस भाव है इतवार इतवार बर तो कोई मैंने धनवार गांव में पांच एक दो घर दो हजार घर बची है कोई रात हाफ बड़कू बल्ली तू मन करे तो धनान देवराम लावे घर आवे गोबर हाफ खाई गया सालों मुदम भावे डंग सुई जा हम्म। गली हम्म। ने उन्हें आदमी डंग सुई ये लिमड़ो लिमड़ो भाव में लिमड़ो खाई जा हम्म। वो लड़को वो आदमी भी जा ये पैसा ये आप कहने और कहीं कहीं केसेस आवे एक तो जहर का केस है एक तो हाँ प्रो केस आवे और ये कने हकुन बतावे कने चीज की और कोई बीमार है हम्म। सब कैसा सब हमारे करे सब रहोगी जाओ हम्म। आप किसी गमे जी तो भगवान को कमी आठ दिन में रहती रहती ये डाकन भूत ने यहाँ डाकन हम्म। ना डाकन काड़े बेरू जो पावे देवरा में देवरा में रोड माने डाकन आवे ना बेरू जो पावे ना छोटी पकड़ काट दे कि हूं फलाणी हूं पहले ने सावे कि सोका लेने सा हूँ कापड़ लेने सा हूँ विपा लेने दे ने देवटा में लिया ना बाद धर्म जो भाव है बेरू जो निकाल ले भूत लगी गयो दो बार गावड़ी पाकी गई आदमी मर गयो देवरंग ने आज रो भावी था धर्मराज ने वक्त चार कर दे के फलाने का मीठे भी कोई आज खाओ भी पे आज हम की गयो तो आज बारह बजे मीठे उतारे आठ दिन के मीठे भी उतरा हुकुम पे वो चार भी जान बिल्कुल यो यो सुख वियो लोगा ने यही धना वीरो जो धंधो आप जाकर देख लो पुराना देख लो एक हजार एक हजार पहले हजार डेढ़ हजार बारी ये सतर है मंदिर है मोटा और डोल है नंगारो है हम्म। बावल कड़ाई है पराता है हाकड़ है हम्म। और झालरा है हम्म। मादल है पाती सोड़ा वाला अलग है कलचो भरो वाला अलग पाती लावा वाला अलग धूप पूरा वाला अलग ने भावदारी मुँह बाड़ी सब आप मीठी वाला ही आप तैयार कर वाला कुमार भी है तेली भी है हरदार भी है और सब जाति हरदार है गणवीरा जो गुरुद्वारा एक कल आप बात की के पूर्वज बिठाया हम्म। यो कोई मतलब है इरो पूर्वज हम्म। पूर्वज तो बार मु भोगम पार्टी देवरा हम्म। मु मरी गयो जमीना समीनागढ़ मु पूर्वज भी गयो मारे लुगाई ने ने मन बचन दुख दो आंख आएगी पेट में दुखी डाढ़ की और दिल में इनके दे लुगाई रे दिल में मु पूर्वज हमने विवाह गति गतिमति नहीं देवरा भोगम પછી એને લુગાઈ આંખા આવી ગયા અને દાઢ દુખતી હોય ને તો આઠ दिन में कही दिया कि मैं आठ दिन में बेवाई दूंगा आपने हम्म આઠ दिन में हो भी जाए तो પછી બેવાઈ દે ભાટાની ફૂટલી કઢાવે हम्म બાવડે सब बोबा जागरण दे ने रात में पाँच हजार टाइम बेवावे हम्म ने साल में एक दान पूरा जाए उन्हें सब खपटू निकल जाए हम्म कब तो निकल जाए हो भी जाए सब सुख शांति भी जाए ये तो अपन घर रो भी है जो भूपा रमायण है नहीं दूसरो भी जाए दूसरा भी हमारी अ, पुतली लगानी पड़े हमारी भी संदीप फुदली बेहण साहेब कोई हुन संदीप बेवाओ गड़ा में तो संदीप बीजा उनके एक संदीप नहीं बेहण साहब पकाना गड़ा मंदिर में बेहूं तो मंदिर में बेवाए बर मुं मरी गयो ने लड़के मार के दे मुं के दे साहब मुं तो पकाना बेहूं मान लड़का गड़े बेहण साहब को फुदली हम्म। तो वह बेवाए हम्म। और मैं फुदली नहीं गड़ा मंदिर में बाद हम सोतरो हम हम बेही दे वो हम्म। साल पर होती काज की पूनम विशाखी पूनम डील में आए पूरा તે મને मौत मरियो ઉમર્યો दुख દુઃખ દીધું ની ना यो सुख शांति करे કરાય અને रक्षा करे यो हम्म, हम्म। जो हुकुम अब यह बात तो सुनी के घर मायने आदमी उम्र है आदमी उम्र है तो पूर्वज है हम्म। लुगाए रमाइने कहीं वे की लुगाए मातृ है मातृ मातृ वे पूर्वज ही जो है पूर्वज ही जो है और वे आदमी भाव में डील में भी आवे के खाली लुगाए रे डील में आवे મે આ આદિની દિલ મે બાજરી બાજરી કે લુગઈ પૂરી ગઈ હે માતરુ કે બેવણી પડે તો કંદી બેવા કંદી ઓ વેણ ઉણી મે હવરી પો કંદીઓ બો આ ગાંચી ને ગાંચા વે હા હા બાંસરો બનાવે છે બાંસરો બનાવે હવરી પો મેને મેલે ઓર નેક નાળે ને કાપડુ ને ફૂદલી ઓમે બેવે બાજરી ભાવ બર દુજા ની બેવા મને બરો કટી લુગઈ વેગી ને તના મને લે બા ગોગોને જા બાવ ભોપાને પાંચ ભોપાને લઈ જા ને ભાવ એને બાવ બેહી જાય हम्म, હું શુદ્ધિ કરી हम्म. અગરબત્તી લો યો લો યો સિકરે લોબાન ની ગોળો ઘી દુબાણ છે તે ધૂપ કરી હમ. લગાઈ ઓમ ને કાઢીને ટાઈમ પર બેહી જાય हम्म, और પછી એની લુગાઈ રીલ में આવે કે મને બેવાઓ हम्म, મને બેટી ગળામાં બે ગઈને જને ગઈને ગળામાં બે જઈને સાલ ભરું અને પૂજન કરે हम्म. જેવો મારો રિવાજ है मातृ मत कमारी लड़की वे तो ही कुंवारी लड़की हम्म, कुंवारी लड़की तो जीवरी जा माँ बाप में हम्म. કે દુઃખ દે તો પછી બાપ બેવાય ને वही मातृ जो है ભાઈ મારું अच्छा પાંચ રૂપિયા પૂટલી કરીને બેવાય अच्छा और જ્યારે દો ब्याह वे मतलब पहली बहू मर जा वे वे कहीं वे માતૃ ગયા ને પણ હું મારી બહુ મર ગઈ हम्म, મારી બહુ મર ગઈ હું દૂધ લુગાઈ લાવું हम्म, તો વંડે ગળામાં બેવાવે वे कहीं कहलावे બા માતૃ બોલે वाने भी मातृ જ बोले માતૃ બોલે हाँ, हाँ। सगी जी के लोडी जी के भी हां लोडी सोक बेवा गलाम बेवा बेवे सोक हां हां सोक बेवे गला में हम्म अटे गलाम पुतली सुख शांति करे रात जगावे नहीं हम्म। रात जगानी पड़े देवरार माते नहीं घरे जगानी पड़े ये मन मातृ सब जगह नहीं ला दे मतलब आप ही जठी बात कर रहे हो बाकी मैं कठी मातृ सुनो मन दे राजस्थान में है राजस्थान में राजस्थान सब में हम्म हम्म बटी मुल्क में नहीं राजस्थान में मानो हरदार मिर्जा हरदार पूर्व सब रे वे हम्म। पूर्व सार घर में वे वणे नहीं वे मारो पांच सौ घर सब रे वे हम्म। वो दो तो सौ पूर्व दुआया मेरे को हम्म, सुख शांति वे दवा नहीं दवा अब एक बात बताओ आप माने कि आप कितनी उम्र हूँ भाव आवा लगा मने मने बीस साल हुई है बीस साल अब की उम्र है आपने मारी मारी उम्र है पचास साल पचास अब तीस साल रह गया जब आप भाव आना चल गया वो मर अच्छा वो मर दो साल भाव नहीं गयो देवरा भाव ये बने वो वो मर दो साल पाती सड़ती हम्म। मने दुखी मने गुणा दु मने गुणा है के भाव नहीं है जो बता गांव वाला एकटा गया हम्म। के तो वो बनी हो कम जो के वो रण सा बता गांव वाला की उदाहरण दो दो साल मने प्रसादी की दी पांच सौ आदमी भेड़ो गयो उसको हम्म। निना बाजरो बा कनीन गयो एक दूसरा ने गयो के बोबो पकड़ूं કે કણી પકડું કે આપણી મરજી મને પકડો પછી હું બેઠો શકો મને પંચાયતો ભાવ છે हम्म, એક હાંકળ પડી શકી ગરુજીરો ભાવ આવ્યો હાંકળ વેતા ગયેલી ભાવ આવ્યો ને ગાદી બી ગયો हम्म, પછી કેવું ગયો ભોપો हम्म, પછી રાત્રિ ગયો પાતી માંગવા ધર્મરાજ મંડાવે પાર્ટી ભોપો એ છે એક દૂસરો જેની ઘોડાવાળી મુરત ને મંડાવે પાતી માંગી જો જો કે મારો ભોપો પાર્ટી हम्म, જો પાર્ટી ભોપો હતા પેલી છ મહિના કડે નોરતા આયા हम्म, નોરતા આયા જો બાજરો ભાવ જો કની ગોબાને લીમડો પાઉં મોતન બાણ નીકળો તો અને મને કયો કામ કયો કામ કર્યા નહીં હશે સાહેબ કે નહીં જો બાજરો ભાવે નौ बजे पधारो है ना दो गिलास ली- लीमड़ो भावे वांडो वाला दूसरा हम्म, और ओटे आगे ले जाते पानी निकलो ने हम्म, हाँ ने हापड़ो हाल पानी दूसरो लावे हम्म, और पाती का नंदी नंदी में वड़ावे हम्म, और मंडो मणि प्रसादी करे हम्म, दागण गेहूं सड़े यो यो है हम्म, हम्म। एक हम्म, एक बात यह है कि जापान है नौरता पे जी नौरता पे हाँ आसुज में आसुजी नौरता रे माते बरखा भाव ताव खेती वो साल भरी बाद बारह महीना में गान की दे जो समय हो जाएगा और दाग पड़ेगा और ओगन सालों साले का अनेक बीमार रहेगा हम्म। और मान सालों साले का देवता देवता पूजा रीजो धर्म पुन करता रीजो हम्म। धान दौड़ दिवाली आस पास में बाजो हम्म। तो इस साल में एक धान नौतर आठम आए बारह बजे टाइम में क्या रात रात एक एक दिन आठ दिन में एक दिन नोटा उठे दिन की दे बारह महीने की बात सब लोग मानने की बात ना सब हजारों मन मान एक हजार खंड मैंने कहा जो लिखे और यही वातावरण साहब साल में पूछा बात हम्म। अब गए साल आप बातें तो बताई जो काफ़ी मिली हो हम्म। हम्म। उन्हें ओगन साल बीमार होगा बीमार हुआ हाफ खाएगा हाफ खाएगा सुमियो बेगा ठीक बेगा सुमियो बहुत ठीक साल और बा बता भाव बताई जाएगी साल तो रही भाव ये है यहाँ भाव ये यहाँ भाव और जड़े दिखला रहेगा संसार में जड़े दिखला साल कालिंगो मन का कालिंगो हीरो कालिंगो में मैं आप सबको मार दो मारो मार दो झगड़ा अच्छा। लड़े झगड़ा साले का हम्म, हम्म। ये साल भरी बात है हम्म, यो यो बता आठम रात बारह महीने एक दान के एक दान के एक दान से अच्छा आप ने तो मतलब गांव रे मतलब लोग रे भीड़ रमाइने बीच रमाइने मतलब पार्ट भी थर हम्म वहाँ जी देवता थर थरपिया मनक नहीं थरपिया मन मनक नहीं थर थरपिया मतलब देवता कहते कि हमारा बुबो पार्टी मनक नहीं थरपिया मनक कहते के मान लो तो हम्म बड़ो दरबार में जान गादी व्यवहार हम्म। जनता मान ले क्यों मानी था दूसरा राजा ही मान ले क्यों मान यो गादी मालिक भी क्यों हम्म। वो कारोबार मोहन देवराम जी जीऊंगा तेरा कारोबार मुसलमान का मुंह मिला कर दूसरों भी जी ये हुक्म अब अब यह बात बताओ मन में कि ये काम काज ने करवा वास्ते कुछ ज्ञान तो चीज है बिना ज्ञान रहे तो हाँ, नहीं काम हुआ को नहीं वो ज्ञान आपने कथू मिल गया हाँ। हाँ। मैं भगवान ज्ञान तो भगवान को नहीं दे मैं भगवान को पूजन करूँ भगवान मैं आप मारे पर आप अफसर हो मालिक हो मैं हम्म। पर पास एक महीना बराबर हूँ क्योंकि हम्म। मैं नौकरी सारे फलान काम करूँ सारा दो महीना नहीं करोगे तीन महीना नहीं करो आप अवश्य में करना पड़ेगा मारू काम हम्म। मैं भगवान की सेवा करूँ दो ही टाइम दारू पीऊ नहीं मांस खाऊँ नहीं दूसरा करे रोटी खाऊँ नहीं साग साग लाइन खाऊँ नहीं दूसरी औरत हम देखो वो गए कने करे 근데 그래 오드로니 좀 बर को बीमार ही जाने बटे गरम नहीं जाऊँ ओदरो देवराम दो दूँ आदिम बोला और भगवान प्रार्थना करूं ये भगवान तू जाने मारी बात नहीं बगड़े सारे अधिकार जो करना कराना तू करे बस अच्छा अभी जैसा ना अपन ने रो के बाद चीज़ है भूत उतारना है ये रामायण अपन ने मंत्र भी काम में लेना पड़े मंत्र काम देवराम मंत्र नहीं है मंत्र ये देवराम यो मूर्त है अटाइम बे है प्रार्थना कर दूं दिल में बुला બેરુજીને કીધું ડીલમાં બોલાવવાનું બાવળ ભાઈઓ બોલાવ તો ડીલમાં આવી જાવ જે હું ફલાણ્યું ક્યુ લાગી ગયું દુઃખ દીધું મને ઓર દંડ લાગી ગયો બાવળી બાવળે મારે પેશાબ કરી લીધું બારહ ટાઈમે પેશાબ કરી લીધું મારે ગિલતી કીધું લાગો જે વેલેગ લેગ મને ફલાણી ચીજ લાવો જે હુકમ એ હુકમ મંતર વગેરે એલમી દેવરામ મંતર નહીં ચાલે મંદિર में मंत्र काम नहीं दे और बोबो बदमाशी करे बैठे घंट दे बोबा ने બોબાનું દુઃખ દીધે બોબા બાર ઘરે છોડ देवराज દેવરાજી દેવરાજી नौ बजे पाती छड़े हम्म। नौ बजे हाफड़ी जाऊँ हम्म। नौ दिन नौ बजे रोटी नहीं खाऊँ नौ बजे चाह नहीं पीऊँ हम्म। शाम में रोटी खाऊँ शाम में चाह पीऊँ नौ बजे देवरा में निकली रखूँ भगवान की पाती छड़े दादरी आवे भगवान हुकुम भी जा यो काम प्रूव है तो प्रूव है यो तो मतलब सीखना मतलब जैसा साकल काम અરે કામ હે તો ભાવ આવે आप તો આપો આ ઘણો છેલ્લું वो ગયો હદા પણ लग जाए तो तो तो दुख दे कड़िया वगैरह बहुत दुख दे हम्म। और भाव में जो देवता उतरा इन वक्त में वो बचा हाँ कलवाई दे बोबर कहीं आल नहीं आवे हम्म, हम्म। खड़े आल नहीं आए बोबर है लागे खड़े मोरा खोलूं देखो एक दिन लगे और भाव है ना वो माता जी भाव है तेल वेग नहीं तेल में वादी ये तेल लगे बिना हम्म। के गोबर हाल नहीं मेहंदी उगड़ जाए हम्म। मेहंदी हम्म। और यो यो मेहंदी जो उगड़े हो गई माही छटना ये नॉर्थन आठम नॉर्थन आठम नॉर्थरी ये नॉर्थरी नौरतन आठम गौर माता जी बलान साहब आठ दिन यो खर्चो गए माता जी उतरी जाओ क्रिया वे तो उतना उतरी जा पूगा इसी घड़ी जोरदार मिली है इसी गुरु जी काम है भगवान प्रार्थना करे बताना पड़े डरो दस दिन દસ જણ પેલા અડધો વ્યા ગામવાળા કે મજા ઉગી રહી ઢાણા તારે મરી ગયા કે કઈ વ્યા ગયા હું બહાદુર બાબા કે તીન દિન વરખા પડી ગઈ तीन दिन तीन दिन में वर्खा हुई पास गाँव वाला आया क्या हुकुम वर्खा हुई दो तीन दिन पहले वर्खा नहीं गाँव वाला अर्धो भी हुकुम के मन तेरे मर गया डांडू में क्या हुकी है बहादुर बावी की फलान तीसरे दिन वर्खा हुई थी फलान टाइम में इतनी टाइम में वर्खा हुई तो अब आपने मतलब गुरुजी जो आप कोई सबक दियो कान में કે સભા ખાના આપી જવાનું બીમાર હું સભા ખાના દવાઈ લાવવા દવાઈ ગણની કરે રખા ગણ કરે મને ખાટી ખોમતી મરસા ખોમતી તેલ ખોમતી સભા જો દીધો મને ગુરુ ગુરુજી ભાવ્યો ગોળ બિરાવાના ને ગોબર માથે હાથે બેવાઈ કે ખેત મેં એ ખેત હે મેં દાંડું સળતું હોય વધારે નથી ઘઉં બહુ ધન જઈને કૂટે बोहरा हम्म। बाबन लगे हम्म। और खोटी ऋषियों की औरत ने देखे मती हम्म। और देवदारी पालन कर दिए बरु को बीमार है नटे मती मारा नाम रहा है लेदास पर जाइए है मुँह करूँगा और <clears throat> आमा पर बाटा फेंके मती अच्छा फल टूकड़ा बाटा नहीं फेंकना और पांच फल छोड़ दीजिए नाजाद कहीं चीज खाम थी पांच फल गए आमा पर बाटा फेंके मती गऊ खेती में सर्दी में बताया मती शराब पिए में दारू पिए दारू मांस खाम थी और ये मागड़े जामु खाम थी ये पांच फल थोड़ा जन वक्त भगवान प्रकाश के ना छोड़ दे वो हम्म। जीव तेरा पालन नहीं करे हम्म। पालन करे हम्म। कोई मरी जाए घर में दूसरी जगह कोई मरी जाए दाग में जाए ना दाग में जाऊं जना गौमूत में फतवा इन घर खापड़ू ना गोम गौमूत ना के लुगाई रकम बेसा होना रही वो गौमूत्र यो संत होना संत ना की हम्म न પછી મંદિર में मंदिर वे गांव में दो महादेव जी रो बेटा पगे लागी न પછી दूसरा कपड़ा पहन हम्म और बारो गांव में कोई मर गई मैं जाती में नकता मुंह नहीं खाऊं हम्म अच्छा बारह दिन वे वो नकतो हम्म वो उन्होंने नहीं खाऊं न तीन दिन वे वो सारी हम रेन हम्म वो तीजाणु करे हम्म वो नहीं खाऊं हम्म बालिन पास आए वो कड़ू कराए हम्म रोटा ने के कवर खवाए हम्म वो नहीं खाऊं हम्म ये ये तीजाणु नहीं खाऊं नकतो नहीं खाऊं हम्म और न काटो नहीं खाऊं तीन ये सब आप गुरु जी शब्द में हुआ? चलो गुरु जी शब्द पालन करूं हम्म हम्म ये ये क्रिया और और कोई आप पूजा में जो सेवा जिन्हें कहो आप कि भाई मैं धर्मराज जी की सेवा करूं तो भी सेवा रे मायने कोई अ, माला फेरवारो काम है कुछ मो હું ભગવાન વટતા દો ઘંટા ધર્મરાજ પડે મુહૂર્ત પડે પ્રાર્થના કરું हम्म, બરો કયો હાપડી માં ये फूल चढ़े ना हे भगवान तू जाने बस ये भगवान वट मुर्दे बड़े प्रार्थना करूँ और हम्म। प्रार्थना करना उनको मुँह गया पछाड़ी कोई आई गया तो बोबा जी मार के पाती ली देना फूल फेंक देते रहते तब हम्म। कि सारू काम भी इधर इधर फट दी थे मैं प्रार्थना करूँ भगवान फूल ले जाएगा तुम मैं क्यों काम में अनुसार दात्री रे काम करूँ है धर्मराज तो पाती देवे वहाँ तो भाव तो नहीं आया धर्मराज बरो पाती बरो विद्वान पाती हम्म। विद्वान पाती भी मांगे भाव भी पहले जब तो भाव लेकिन पास जरूरी के पाती बहन साहब पाती के दे बाद भाव पाती दी दे पाती भी दी दे भाव भी धर्मराज और भाव भी बहन पाती पाती डेली भाव तो डेली है अच्छा दोनों नौ जो डेढ़ बजे तक भाव है तो मन गिर जी पड़े हम्म। चार जो भाव है रात नौ बजे तक पाती हम्म। ये तो अब जैसे आप जाने गोल दी आप जाने वाने कुछ आपने तैयारी भी करनी पड़े वाने भी समझाना पड़े कुछ जन आप गोल दिए बीठी पे गोला तो बार बीमार रही गयो मारे घर में फन रही गयो तो बाज रो पाती मंगा आप रुकी दवा लू तो अंदर था तो ना गिरे को मीठी पेरो कि मीठी पेरा 15 दिन में मारे घर में सुख सुख शांति भी पेरूंगा तो 15 दिन में सुख शांति भी मीठी पेरा जो दो चार दो महीने तीन महीने प्रसादी करे ने मीठी पेरा बाद जागरण दे माली बना वगैरह वाको करा बढ़िया तांबार तार है तुम भरो फोन नहीं दे हम्म। फोन की राज साहब करता है नहीं करेगी मनोहर सिंह जी ये हम्म। मनोहर सिंह जी गिनती आदमी धर्मराज की हम्म। ये रिवाज नहीं तो खाली आप मतलब कोई देवरा माते जो आगे जेरी पूजा चले विरेज नहीं है गोल तो किरी जो भी है विपदा में रहे जो या बचना चाहे आप देवरा में पधार तो गया आप लाखों रिवारों काम भी क्यों आप महीने में पास आई है जो कुमार काम भी क्यों तो ना बाद में पढ़े यो पर्सन भी जा बाद ही हम्म। के यो वीडी ग्राउंड था तो ना भी नहीं पढ़ा तो साल में बसा हो हम्म। यो यो के पास यो हाँ। एक बात तो पूछ मैं कि ये जो अपने मान लो घर मैंने भायारा झगड़ा है लुगाई और पत्ती रा झगड़ा है और खेतारा झगड़ा है ये अब भी आवेगी खेताना झगड़ा घर में लुगाई ने आदमी रहा हम्म। और भाई भाई बने नहीं जिन्होंने जो परिवार भी जाएगा मैं उनचास कर दूंगा हम्म। किसान घर में दो आलू काट दूँ एक मैं कर दूँ वो झगड़ा लड़े झगड़ो मेट दे हम्म। और दो आपस में आपस में करे वो झगड़ो मेट जाए जो भी मामला हाँ भी है हाँ? सब प्रकार है देवराम केस शोर भी आया सुगार भी आया सब कुछ करे भगवान सब काम होने करे अने साल में कई दिनों ने खपटा एक तस्वीर चढ़ी है हम्म। कई दिनों वो कई दिनों ने काम भी किया हम्म। भगवान जो वापस भी उसको और माने कई बात जाननी चाहिए देवरा माते आपने कहीं लागे कि भाई ये बात था खास तो जानो माने अब अच्छा, एक बात और बताओ कि लुगाई में भी कठी भाव आवे हाँ किरो किरो आवे वाने भेरुजीरो आई नुगेरो धर्मराज बीर धर्मराज रूपाल नहीं है अच्छा जो खेड़ू है भेरुजी भेरुजीरो है हाँ। पुरुजारु है और भेरुजी भेरुजीरो आवे भेरुजी भेरुजीरो आवे हाँ। भेरुजी लुगे ये ये गारी है हाँ। तना आदमी मिट्टी पे लुगे है पतुड़ पेरे उन्हें लुगा भावे लुगा देवराम गादी बनी पे अच्छा बाणा में उधर बहादुर भावे गादी बनी पे देवराम में ಅವರಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾವ ಬಿ आवरी माता रो भाव नहीं बे ನೀವೇ हम्म। तो वो अब ये एक बात यह कहे कि जो अपन के वहाँ के डाकनी लाग जा हम्म। ये कई बात है ये हम्म। ये लड़की है छोटी सी की लड़की पैदाश की छोटा सा कहूँ बाप माँ ने हमाल नहीं करे टट्टी की वह खाई ली थी अच्छा हाथ धो था थोड़ी ऐसा लग गई वह मोटी और डाकू था वो करियानी वो सब जूस में भेजा खावा लग गया हम्म। तो कोई लुगाई पढ़नी सीखी जा रही है कपड़ा पहन तो उन्हें पगे नहीं लागे हम्म। और उन्हें हाउजी घोड़ा नहीं दाबे हाउजी बेटा तो उन्हीं पर नजर पड़ जाए हम्म। तो उन्हें घर मेरे लगाई कुंभ बंद कर दे तो बाल बचा रहे वो बंद कर दे बदर बीमारी मिल ले खून मिल ले पेशाब वाली माता और बच्चों मिल ले हम्म। पेट में बीमारी मिल ले देवरे देवरे फिरो तो कुंक लड़का लड़की नहीं वे कुंक बांध दे हम्म। तो बाज रो बाव पाथी काढ़ी ने लड़का लड़की भेजा और इबार वो हमारे लड़को नहीं है गांव वाला तो भी क्या नगरी विवाह करवा वाला नहीं है घर में कोई कोई नहीं घर उजड़ भी औलाद नहीं है जना भगवान प्रार्थना करे सब मने जना हुकुम में नालज भरावे लुगाई ने हम्म। नाले गए वो भरा एक मोमिना लिए नाले तो उन्हें साल भर में बच्चों पैदा भी जा बच्चों पैदा हुआ लड़की पैदा हुआ सत भगवान सत वो साल में वो पैदा भी जा एक मैंने पर देख लूँ तो वीडियो इतनी वीडियो कर बनी मन थोड़ा अभी आप ये जो आप बताए डाकन रे बाबत के नज़र पड़ जा वह नज़र की जीवती लुगाई रही पड़े के मरियोली पड़े मरी ಮರಿಯೊಳಿ ಲುಗಾಯರಿ ಪಡೆ ಮರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಳಣ್ವೆ ಹ್ಞೂ ಸುಳಣ್ ಬಲೆ ಅವನು ಸುಡಲ್ हम्म ये जीवती लुगई से हां डोगरी को मोटियार को हम्म। उनी गुस्से खराब है नजर पड़ जा डॉक्टर लागे नहीं नजर पड़ जा बर मारे पर नजर गई तो फन लाग जा हम्म। और बच्चे डील में आए हम्म डील में आज ना बजे के देख मु तो कर लो कई सा था बाबा इनके हवा पांच रिपा माते उतार दीजिए हवा दो से सोखा नाले तो मेहंदी और न काजल ने टीली और ने सोखा उतार दिए भी पंद्रह दिन सोखा रही जाए हम्म। तो पचास बार लगे पासी आवे देवरा में कौन हम्म। बीमार ही जाए बाकी तो मैं आराम पड़ी गयो हम्म। तो पछे देवरा में सोखा लेना आवे पांच रुपया में सोखा वो उधर लेना आवे पछे वो बापू के ऊपर रंधे सब सोखा पर रंधे नाले पर उतारी बेरोजी दूध दे मन का बच्चा नहीं मारते आदमी ने छटका मारते भी सोखा रिया रान रुनाइन बढ़िया रानी रुनाइन डीप रूम का मटकी रो हम्म। मैं गीन ना भाव पांच ही करूं गीन हम्म, हम्म। शक्कर लाई भाव पांच ही करूं टेवटू तो नहीं वे टेवटो वे मानो टेवटू पहाड़ी तो- ने सोगान और लेजन मिलिया भोपा और रो ही ने खा उतरा लगी दिन ने और उधर टेवटा में लेजन मिलिया टेवटा तो भी नहीं क्या गांव यो मकान बाने वो गांव बाने यो घूम का वे गांव बाने घूम का नहीं वे उधर लेजन मिलिया हम्म। हम्म। ये कुछ लुगाया वे की जो जाने दृष्टि खराब हो जा वे कौन लुगाया वे जो हर कोई हर घन जाति में हर जात में हर जाति में जाति कौन से सवाल में अच्छा वे कुछ वीर साथ है कहीं वे मैं वीर है हम्म, हम्म। वे साथ है मैं वीर है ये माथे पड़ जाए नजर ये डाकन कोट काट सके जोरदार भेरू है धर्मराज नहीं काट सके धर्मराज नारी नहीं करे भोपाल में धर्मराज भोपाल की देखा काल दिखाई दूं रोंट दी हूँ बेरीरो गाँव है कणो थोड़ा जोरदार बाव है ना हकल पेंगी जना दादी बैठे मैं दई मैं लोग बाण बैठा रहे जना बाव इन धर्मराज बेरोजरो बाव इन लब देता हाँ छोटी पकड़ ले वो बोबो छोटी पकड़ दे हकल वे तीन सारी घंटे बावे हम्म। बाकी एक छोड़ दो मैं भरी दूँ अन्न कहीं नहीं दूँ के बे लगेगा कि अन्न अन्न कदी नहीं भाव करते वहीं कड़ी हम्म। वह निकले निकल जा पर वो कैसे पास गोबा ने मर दी दे लात दी दे गोबा ने ठोक दे हम्म। अब यो जो है मतलब वह डाकन पहचानी जाए किसी लुगाई ही यूं तो नहीं पहचानी जाए डाकन जीवती लुगाई है तो ना बाबूजी ने बोलो जेब नहीं करे हम हम्म? आउट नहीं करे बाबूजी नहीं करे आउट करे सिंचार में तो विघन भेजा विघन भेजा बरो आउट नहीं करे देवता हम्म, हम्म। उन्हें लामी थोड़ी नहीं है और ठाम ठाम दाबी जाना हाउ कर देगा लामी थोड़ी नहीं हाउ कर देगा आउट करो तो काम चला आउट कर दे तो सिंचार में देवरान थोड़ी आ सुकारिया कोर्ट में हाथ में जाए बदमाश भी आया लुच्चा भी आया सब आया हम्म। वो एक समान रखे हम्म, हम्म। लेकिन ये हमेशा मतलब लुगाई रही खराब नजर है भाई डाकन है जो डाकन बनना चाहे भाई बनती भाई क्योंकि वीर साथ न पड़े मैंने तो डाकन है दूसरी है नी तो उंडू निश्चित पड़ी जाए उनको खावा में आई जाए अच्छा सब्जी इटवाड़ी आई जाए खावा में आई जाए वही तो लागी बंडी भी जाए हम्म हम्म डाकन में घर में नहीं मैं ये जानना चाहूँ कि डाकन की कर बने औरत मतलब वहाँ तो घर रही साजी सूजी औरत है हम्म। वह कोई ना कोई मेलो काम करे जदी जो डाकन वे नहीं तो तो वे को नहीं मेलो काम तो यो करें मसान से वे कि कहीं करे मसान से वे हनुमान जी रोड जा हम्म। डाकण वे हम्म। ये बेड़ा सुजत है जना हनुमान जी रोड बेड़ा चौदह किने के दिवाली आवे अच्छा जना सब डाकण पीली हुई हनुमान जी रोड जा और बेड़ा सौदे से हनुमान हम्म। जी साधन कराई हम्म। और डाकनी है साधन मतलब कहीं जाप करे कहीं हनुमान जी बेड़ा सौदे ने धनतेरस था धनतेरस हम्म। में दियो करा ने धन धन करे हादे अधिक में जा भगवान हनुमान जी उठ जा मसाना में मसाना में हनुमान जी अच्छा में जा मसाना में जा ये कुनर काम भी जो करे और नजर पड़ेगी और काम को डाकने में जाई हूं मारे पे नजर पड़ेगी आदमी भी लग जा બરું બોબું ઘરે કાઢો પર ગયો ઓર કાથુ બોજો ભાવ હે મને મને छोड़े ना आप लाग लाग जाए तने गोबर खन मिल ले पेट में दस्ता मिल ले ये बीमारी मिल ले हम्म। बाढ़ मिल ले तो ये दूसरा गोबा है ना भाव ना की देख मोटे कियो काढ़ो और ते दुम तो पूरा परिवार नहीं देवा मैं परिवार खाई दूं तो उन्हें गोबा ने आदमी गोबा नहीं छोड़ना आदमी लग जा हम्म। और धर्मराज रो भाव है हम्म। ना गाड़ी से के बेरोज रो भाव है ना पदारो विदा काट दे यो अब एक तो मैं सुनिए नाम डाकन रो हम्म। जो आप बताए जैसा एक हियारी वे हियारी तो केलड़ी में रोटियां करे हम्म। ना रोटियां बड़ी जा हम्म। और सुलान में सड़सड़ करे आदमी है पर बुरी करते में ठोकर लग जा ये हियारी बोले ये भी लुगाई है ये लुगाई से और ये भी वीर साध है ये वीर साध है और ये माखन री बात कहे माखन के बिलोण करे जी माखन ले जावे हियारी हां ले जा और ये बारू डाकण जोरदार है ऐसी हम्म। डाकण डुगाई डाकन से जोरदार हाथ पीड़ी जाए तो लेवड़ा रहे तो डाकण नहीं निकले बारू मोटे बात करूँ ना कह दे मैं फलाने का बात कर दियो हम्म। डाकन जोरदार है हम्म। तो कह दे फलाने का तुम्हारी तो बात कर दियो बटे कह दे बात वो सियारी हियारी ने पता लगे कि डाकन नहीं पता लग जाए यानी डाकन को पता लगे कि डाकण तो बड़ी है हियारी हां हां और हिकोत्री हिकोत्री ना जात ये ये खराब काम है कहीं गोदरी वाला खराब है कहीं काम है यहाँ ये आदमी ने ये बर्बाद करवा चुका ही नहीं हम्म, हम्म। भगवान में जो बर्बाद कर दे आदमी हम्म। घर में धूलो कर दे साल में दो धान बकरा मारे और उन्हें क्रिया हाथ नहीं पड़े क्रिया कहीं कहीं करनी पड़े बोकड़ा मारना हाँ? बोकड़ा बोकड़ा कहीं जना बोकड़ा कहीं मारना पड़े साल अच्छा। में एक धान हाँ। और उन्हें क्रिया रखनी पड़े दिन ही बात घर खोद खोई दे गोरोटे वादा करें और की दे Kiedy was up? Kaya godri ma godri var at kide. Jana yo. गोदरी गोदरी man devran रंग हम्म हम्म गोदरी घर नहीं है नहीं आप रे तो नहीं है लेकिन लोग लोगारे तो है हां लोग है बिलवाड़ में सुनो हाँ बिलवाड़ में घणो हाँ बिलवाड़ में आप गया ना कि सीधे ना रहे आप लार मिल ले हम्म तो हम्म हम उठायो ना मुंह के हली ले गए मारे फन मिल ले मलारे बोला रे बरो बेल बेल ढंग लेवा जो आप बी गांव बाने काड़े हाथ फेरे ने बाले बाल लेने रहो टाला ही गोदरी मिल ले लारे उल्टा लो हम्म। ग्राइन पर मरे बर्बाद कर दे हम्म। जगह भी जाए जगह खोद दे हम्म। घर ने धूलो कर दे खोदी खोदी मने घर ने मने वैसा सब मने जा ये नुकसान करवा वास्ते तो। नुकसान कोई तो क्यों बने लोग करे लोग हाँ? आमदनी करे हां यूं कोई आमदनी है जो देव मने कहा यो तो यो नजर हम्म पर गया और लिख दा 200 हम्म हेलमी वे हेलमी दो सौ रुपया लेते मैंने बीमार भी क्यों डोरा धंधा कर खुद रेज कर पांच सौ रुपया ले ले हो गई जो एक डॉक्टर जाने एक खराब लगे जाने दूसरे दान नहीं बुलाया कि मैंने नहीं बुलाई ये संसार में ही तो और कोई चीज वे कहीं यार ये डॉक्टर शिकोत्री अलावा शिकोत्री अलावा कोई नहीं है हम्म। ये भी साधे लोग ये ये ये हदे हम्म। वो मान आप लड़े ना वीर मिल लो आप फन मिल लो घर में हम्म। वो आदमी गली गली मरे पर घना जना तो कहे कोत्री ने आगम पिछम सब दिखे ये सब बात क्यों आपने घर खोद खोई दे घर में फन मिल ले बारह वर्ष बाद पीले की दे उन्हें घरे हाथों लिहाज कर दे आदमी नहीं हाथों घर अद्दू कर मकान तक पड़ जा अद्दू कर दे मकान हम्म, जो फन पान तो बिलवाड़ में ही से हम्म। आपने ये साधन तो करो हम्म। तो आपने लिहाल कर दे लो- लो- जैसा ना अपा अठे तो जाना कि भाई ये फलाना भोपा है हम्म भीलवाड़ में लोग जाने की सिकोत्री कौन है कहीं है कि नहीं हमारे कहीं जावे की बिलवाड़ में बार मुआ घर में लुगाई बीमार की हम्म, देवदम फन नहीं गयो हम्म, लुगाई सफा खाने जाओ आराम नहीं पड़ियो हम्म, પછી બિલવાડ में जाने हम जा लाऊं हम्म, कि हमारी और है कि फंड है वो कहते फलाना फंड मिलियो तो डोरा धंधा करे मीना खाने मोलत करे जो जहाँ आराम पड़ जान वो चीज़ें वो आराम भी जान बैली ली वन आप जान जान सका कि भाई यही कोत्री है यही कोत्रो है बोलो मुँह ही कोतरो मात्र ही कोत्रो आप ही कोत्रो है हम्म। मैं मिल ली दो वो आप ही कोत्रो वो किधर फलाने मिलियो हम्म। अच्छा आप हम्म। आप दे क्या ही कोत्रो मात्र ही कोत्रो आप मान धड़े गया जब मैं आप में फन मिल ली तो मात्र एक फलाना आज मिलियो है हम्म। वो किधे फलाने मिलियो यो अब जैसे मैं आते पतो लगा कि भाई आपने था है कि भीलवाड़ में कौन है एक कोतरो हम्म। आपने था है आप जानो मत जदी जा ले, ले जा सको बटे बीमार ने हम्म। हाँ। ले जा सके सका सन हिकोतर पहचान सकेंगे मतलब कोई गांव में आदमी बता दे कि भाई वो एक उतरो है कि एक उतरी है एक उतरा एक उतरा वाले दे जाऊं ये अभी किधर मैं जांच कराया बताई कोई नहीं बताई हाँ वही नहीं बताई कोई बोलो आप देवराम आया देवराम बातें तो देवराज ये तो देवराज मेहमान बढ़ी है जो इगोत्र नहीं है धर्मनाथ की बात है सब बात है ये बात है जो होते जो की बात है ये इगोत्र वाला किधर मान पकड़वाया मान बता भी कोई नहीं इगोत्र नहीं होता है लोग कभी नहीं बताए तो वो तो छानो रहा है लोग सामने आके लोग सब आपस आपस आपस में जानता है लेकिन आपस आपस में जाने मैं मैं मैं मैं मैं मैं बोल मैं धर्मराज भूपम और मैंने गांव में कुछ धर्मराज भूप कौन है कि मलाल कुमार है हम्म, हाँ, बता तो देवरे काम गई हम्म। रोज तो कोई बात ही नहीं गांव पर घरे मैंने गाया भी हम्म। शाम सुबह एक देवरे कही है देवरे जाओ ये है यो फर्क है हिकोत्रा हिकोत्रा तो मतलब लेकिन हियारी और डाकन तो ये तो छानी ही छानी से और हिकोत्रा तो लोग पर जान वाला आग जाम मन मना गया ना तब जाने अरे गो जो मिली तो हम्म। एक आदमी घर में हम्म। और हो तो से मने गला गया और बिलवाड़ में हम जो लाया गमा गम हम्म। वो डोरा धंधा करे ने मूठी मेले ने उतरे पथर ने ने उतरे कहीं ना कपड़ों ने ने उतरे बोतल डेढ़ बोतल दारू पी जा और दो दो तीन से मिठाई खाई जा वो आदमी और न मुझे गाना गा तो जान के કે ફલાણે મેલ્યું हम्म, ફલાણે મેલ્યું हम्म, કરી जाएगा कि मैं मार करवा लूँ बोकड़ा मरावे हम्म, बहुत मुश्किल निकले हम्म, पाँच हजार सौ रुपये खर्च हो गए निकले घर हम्म, और कह दे मैं नहीं जाऊँगा नहीं मारूंगा जीव नहीं लूँगा जीव लूँगा तो आदमी गली गली में गली गली में मरी जाओ ओह, खत्म भी जा हम्म, हम्म। यो। ये जो बंदोबस्त अपने ते थान पे वे सके देवरा पे हिकोत्रा रो बंदोबस्त इकोतरा बंदो थो कर दे कर सके के यो दाव देगा अच्छा कर सके बंदोबस्त रहते सही देवरा पे दाव दे बागी लेकिन के और आप उन्हीं डकतो हुए तो પછી કેદા ભાઈ કોતરા કન જાઓ એ દબેની ને એ બરો મૌન દાવ નહીં ડગ્યો કે તાર સમજો કરજે ભાઈ મૌન મટે અચ્છા જો સમજો ગોદુ મેરે સમજો કરજે સારા ભાઈ મુઈ ભેળો રંગ હો કરેગા જો આદમી ને સમજો વેન દોરા દંડા કરે ઉને રોડગા કરીને જાન હરામ પડી જા और दूसरी बात उतरा माता की करे जो हो विन रही था हो गई था क्यों मिलियो क्यों हम्म। मिलियो था कहा हम्म। कि मारी जगह पर कब्जा कर ली तो मारे डांडे ले गया हम्म। मारे घर में बगाड़ भी गया करो अब मारे घर में नुकसान भी गया दो भाई भाई हैं बनी जगह में बती ले ली थी सारा वो काट ले गयो इनका नाक दीदा बोल मारे दो दरबार मिल लीदा लड़े भी हुई तेरे को फन मिल ले यो यो आपस में यो फन आपस में तो मारे ने मान लो कि दूजा मेरे झगड़ो हो गया तो मैं जाऊं ही कोतरा करने के मेल तो कोई हाँ। और मुझे नाम नहीं बताया गोतम नाम मिलेगा नाम नहीं अनुसार है हम्म, हम्म। तो बारे में नाम नहीं आया और जोरदार समझो गए हम्म। उनके लिए गोत्र गए तो वो गिरे फलाने मिलो डील में आइन कहते फलाना मिलो अद्री अत्री वीजा मिलो क्या फलाना फलाना आदमी अद्री वीजा मिलो क्यों मिलो क्या मार लड़े क्यों मारे नुकसान की तो मर जगह लिख दी फलाने की दू जो जो बिलवाड़ में करूँ बाकी इलाका में कौन है इलाका में ગુજરાત ભીલવાડની છે વિદાયટી ભદ્રાદ્રની પ્રકરણમાં છાને છાને है हाँ थोड़ा हम्म। वहाँ तो खास तैयारी करनी पड़ती भाई मंत्र तंत्र करता भाई ये लोग तो मंत्र करे हम्म। पाठ पूजन करे मंत्र करे हम्म, यो करे पाठ पूजन किधर डालनी है यह बात मानना ही था पड़ी और धर्मराज आने लगे गौरी गोनू हम्म। गटका तो गिला में होगन दे बाजीरा हम्म। कि हम बावजीर होकर ऊपर रहना पड़ेगा बोली आगे घर तो है हम्म। हाँ। तो घर तो ऊपर रहने दोनों पड़ेगा ही साहब चलो साहब यहां तो इन बाजीरा आधार पर ऊपर हुक्म दी तो नहीं छोड़ो कि हम गौरी इच्छा बाजीरा धर्मराज गौरी इच्छा लगे पार्टी आने शरीर आने गौ मरे इच्छा अब तो ये जो अपन खागल देव जी खागल जी और भैरव जी में कहीं फर्क है बेरुज में तो खाकल देव तो धर्मराज मरे तू धर्मराज है हम्म। मने मरी जाए नंदी वे ना धर्मराज बेटो से बोरे हम्म। वो भगवान प्रसन्न है कितने देख ना ले हम्म, लेकुल है धर्मराज मरे तू धर्मराज ने जीवे तू धर्मराज तो ले लेकुल है धर्मरी गादी है वो धर्मराज है वो अत्याचार नहीं करावे पाप नहीं करावे ने धर्म धर्म करावे कबूतरा मकी निकलावे धर्म करता रही जो बेरुज रो भावे ना बोकड़ो मरावे बोकड़ो और न भावे ना यो और ताका जीरो आवे जे ताका जीरो भावे ना जनावर बुड़कू भले चार करते हम्म हम्म सरप सरप रो भावे सरप वे के हड़ के कुत्तो वे के कुत्तो बुड़कू भले सरक वे कने हाफ भाई गयो हम्म। और ने कड़ी ये ताका जी बदमाशी करे जनावर बुड़कू भले बावजी बदमाशी करने में बुड़कू भले हम्म। बावजी रे मैंने बात गाल में बदमाशी करनी मंदिर में रहना छंटता हम्म ये ये खाकल बाजी ताको जी ताको जी खाकल बाजी अच्छा, जी धर्मराज रो तो काम एक ही है और खाकलबाज जी रो जान जानवर वाला काम है और अब भैरव जी रो है जे भैरव जी रो बलबाकल ले बलबा कुतारी ऐश्वरी कुतारी ऐश्वरी और गांव में तेल इसमें जोगी राम लगे समझ लगे नहीं आन गांगिया तेल यार इसमें जोगी अच्छा गांव में लवन ने इसमें जोगी हम्म या की बात है कोई हां ये ये राम तिलक है कौन 12 बीघा सोदरा आओ भैरव जी લાલ લેવાનું બોલાવે મારો વિકારો છોતરો આવો ભેરું ઈસન લાલ લેવાનું બોલાવે નકલાવે ભેરું આવો દી જાજ પગે લાગું મારો વિકારો છોતરો ભેરુજી ઘણા આવે લુગાયા ગીત ગાવે છે सब लुगाया धर्मराजी गण का ताकत गण यार सोगन लगे गांगे तेल दी नहीं हम्म। गांग तेलन गल लवान बेरोजी हम्म। आन लगे हम्म हम्म लोला के यार आन बेरोजी आन लगा सो भरी जा आन पैदा दी जा हम्म हम्म, <clears throat> हम्म। तो તો આજે તો अब आपने हाँ, पुगा दूंगा नहीं शादी के लिए पूछूंगा ये सब भेज है ये पति और घर ना आ गए हाँ हम्म। बाबू बेटे आप कही दो तो ने एक बेटे बाबू भंडार में भी सब वेरा प्रसाद आएगा जो भी बाबू चीज आप बता दो माने थोड़ा समझा नहीं चढ़ाना यो हैं बावली जो भी जनवरी में बड़ो कोई बावली की चीज भेट भी जाए वो आप सालों के जिनका के ये जोधपुर वाला घोटा साहब है बाबा जी भेंट करने गया कहीं आप बताओ जो करता नहीं यो यो है बाबा जी भूत बना है बोलो आप चीज की भेंट की थी आप साल धरी हम्म। हमारा होती हम्म। ये फलाना साहब आया साहब देवरा में भेंट करने गया हम्म, यो और नहीं वे जो लुगाए ना आप बुलावा वाने गावा वारो के वाने कहीं देदा उन्होंने प्रसाद लेने वाटनो पड़ो अच्छा तो प्रसाद वठी मिल जाएगी बड़े मिल जाए फिर मिले जाऊँ અને બયાદી બયાદી રાજપુરુષાને તોપે આયે બુગાય આદમી પ્રસાદ ભાઈ વાંટેગા ઠીક છે અચ્છા વો ડોલવાળાને ને દે દે માં હ ડોલવાળાને હ બુગાય પ્રસાદ માં બાગી ગદ બુગાય હ હ યો ઈ પડતા હ બાકી તો દેવરા માથે જો સામાન આવે પૈસા વગેરા ચડે કરે વે સબ દેવરા રીજ કામ આવે देवरा देवरा पर पचास था हम्म। तो देवरा में नंगर में फूट नंगर में तो मैंने गाया डोल फूट डोल जा मैंने नहीं मंगाई थी हम्म। और पर चार महीना बेचा काम तो नहीं आवे चार महीना समाचार दो दिन दो पर एक हम्म। आदमी तेल देवेंगे दो किला कि मैं तरफ दो दिन और बोलो देवरान आप बताइए कि आप सारा सिपा खड़ा है आप हुकुम कीजिए फलाना आदमी के देव मंदिर में हमारे चीज आने से आर्डर में वेट कर दे हम्म। ये निवेद गेट वेट करते हो हम्म। ये देवरा सिवा देवराम लगे जाओ हाँ। वो बोपरंग नहीं लगे वो बोपरंग नहीं लगा वो बहुत भी बसा दिख रहा है वो खाली बुली बोली हम्म। और उनसे कहीं नहीं और बोलो पछौरी बाप खड़ा है आई आप नाम लिख दे फलाना आदमी फलाना बड़ा खड़ा किया देवराम फलाना तारीख वो आपने देवरा था कुछ जमीन नहीं है कि जमीन नहीं है जमीन पहला શરૂ નહીં શરૂ નહીં ડોલી નહીં डोली नहीं हम्म। आप यो मतलब कुमार हो आप ना तो कैसा कुमार हो आप मेवलिया और कुमार का काम भी गया ऑपरेटर बर्तन भंडार काम है हाँ। ये गोगुंदा जड़े बनावे काला बनावे के लाल ही बनावे बर्तन राता भी बनावे काला भी बनावे राता और काला भी बनावे और एक तो मेवलिया कुमार है एक मेवाड़ा कुमार है यहाँ मतलब बेटी विवाह नहीं है और भी कुमार है कहीं कोई और कुमार है बांडा कुमार है बांडा कुमार तो घर में रोज काम करे हम्म। तो बांडा कुमार में तो नथ नहीं पेरे नथ नहीं पहरे ये मेवाड़ा कुमार में मेवलिया अच्छा आप रे नथ पहरे माम नथ पहरे बांडा कुमार जो है यार होली रे दिन हर महीने पहला अब इस जमाने में तो नहीं लेकिन पुराने जमाने हर महीने होली में फाटा गावा बहुत तेज गाता ये होली है ना संगा हम्म। वजन गावे हम्म धान हम्म। वो तो फाटा बहुत ज्यादा फाटा गया बांडा कुमार मैंने हम्म, हम्म। तो बांडा कुमार और मेवाड़ा कुमार यहाँ पे भी अलग अलग जाते ये भी अलग अलग जाते अब मुसलमान कुमार तो कोई को नहीं मुसलमान कुमार मुसलमान कुमार तो नहीं है मुसलमान कुमार धंधो यो आप रिगार्ड काम करिए ना वहाँ पर बात ना नौकरी की जो काम में आप